तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का श्याम सबका का स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों विष्णोः श्रुत्रेस्थो विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णो वेत्वा ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत् पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यां परिधापयामि पारष्णवः पुष्पम पुष्पमाल्याम समर्पयामि दुर्वांकुरान् समर्पयामि परिमृतव्यानि समर्पयामि अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुङ्ग्यायाहेतिं परिबाधमानः हस्तग्नौ विद्वा पयुनान् विद्वान् पुमान् पुमाग्गुसं परिपातु विद्वातः सुगन्धितैलम् समर्पयामि त्र्यम्बकाञ्जजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्पारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् धूपान्ते दीपान्ते हस्तप्रक्षालनम् नैवेद्यम् निवेदयामि अन्नपदेन्स्यनुधिजनमीवचस्मिनः प्रवरदातारन्ता इक उरजन्नु देहिद्विपादे संचादुपादे नैवेद्यांते आत्मनियम जलम समर्पयामि ऋतुफलं तांबूलम मुंगीफलं समर्पयामि द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि रामाय राम रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पदये नमः आपदाम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सतङ्गचक्रां सकिरीटकुण्डलां सहार सरसीरुहेक्षणां सहारवक्षस्तरगौस्तुवस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा व्यासपूजना नमोऽस्तु देव्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः सूर एकवियोद्वियादि जायतान्धोग्रीधे नृपोढा नटवानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योगाजसूरथेष्ठाः सभेयोजुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्योपरिखतु फलवत्यो न ओखदयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो न कल्पताम् आप लोगों को विदिती है कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी यह चौहत्तरवा होली महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए महापुरुषों की सत्प्रेरणा यद्यपि काफ़ी है फिर भी पुरुषार्थ के लिए वर्तमान में संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज एवं उनके सहयोग प्रदान कर रहे हैं अनंत श्री समलंकृत परम पूज्यपाद स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज एवं इस आश्रम में संचालन के कार्यक्रम को संभालते हुए परम पूज्यपाद स्वामी श्री अद्वैत मुनि जी महाराज उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर सतनाम दास जी एवं भंडार आदि को संभालते हुए श्री श्यामानंद जी महाराज ये सब आपको इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रहे हैं वर्तमान में जिनके बिंद से कथा श्रवण कर रहे हैं करने जा रहे हैं हम आप लोग कोई उनसे अपरिचित नहीं है फिर भी थोड़ा सा मैं बोलूंगा खान से बनी हुई हर हर एक चीज हीरा नहीं कहलाती खान से बनी हुई हर एक चीज सिरा नहीं कहलाती खान से निकली हुई हर एक चीज हीरा नहीं कहलाती यो तो आजकल बहुत ही बन गए कथाकारों आज आजकल बहुत ही बन गए कथाकारों पर प्रत्येक कथाकार राजेश रामायणी नहीं कहलाते आज हम लोगों के बीच में उपस्थित अपने वाकपटु के धनी वेदांत के मर्मज्ञ मानस मर्मज्ञ हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और ज्यादा समय न करके मैं उन्हीं से प्रार्थना करूं कि आप ही मुझे श्रवण करावें बहुत अच्छा रहेगा साथ में निवेदन कर दूं कुछ ऐसे महापुरुषों के द्वारा मेरे पास में संवाद आया कि पिछले साल भगवान राम वन वनवास की ओर चले गए हैं चित्रकूट तक पहुंच चुके हैं और पीछे से आ, अपने पूर्वासियों के सहित भरत जी भैया को बुलाने के लिए जा रहे हैं मैं आप लोगों की ओर से आग्रह करता हूं पूज्य महाराज के आगे से कथा का यदि श्रवण कराएंगे तो आपकी अति कृपा होगी बाकी आपकी इच्छा है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि आगे कार्यक्रम महाराज जी स्वयं प्रारंभ करें पूज्य महाराज जी श्रीराम राम वर्णानामर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कई शौर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिषम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम दूरवादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनी किशोरमूर्तिम् मनोरथ मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षक राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबाम चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में निर्मित इस भव्य सभागार में उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रद्धे पूज्य संतजन वंदनीय विद्वज्जन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधु हो श्रद्धा में माता आप सबके प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम निवेदन प्रीतिपूर्वक लें प्रभु का पावन नाम तदनंतर श्रीधाम वृंदावन की परम पुनीत मृतिका के माहौल में उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम लोग श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से प्राप्त करेंगे नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी अजिर बिहारी द्रवभु सो अजिर बिहारी जय सिया राम जय राम तुलसीदास जी महाराज की जय को रघु शेखर कलिपावनावतार श्री सीताराम चरणाम बुध चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्री राम जी की तरह शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला दूसरा और कौन को रघुवीर सरिस और वैसे ही जैसे कृपा सिंधु श्री राम है वैसे ही शील सिंधु श्री भरत है श्री राम और भरत जी का मिलन हुआ प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया पता नहीं कब किसमें कौन समाया प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया ऐसी मिलने दो रहे नहीं ऐसी अनन्यता सब अपनी अपनी सुधी भूल गए को किछु कहाई न को किछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूछा श्री राम जी से मिलने के बाद जब श्री भरत उस समाधि सुख से बहिर्मुख होते हैं तो श्री जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया प्रणाम तो बहुतों ने बहुतों को किया होगा किंतु ऐसा ना तो कोई प्रणम्य होगा और ना कोई प्रणाम करने वाला जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी के चरण वे चरण हैं जिन्होंने लंकापति रावण के वैभव पर ठोकर लगा दी मंदोदरी तभी तो कहती है मैंने जो सहा है अपमान आज बाटिका में शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने रावण कहता मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा मंदोदरी को लगा होगा कि ये पति है कि विपत्ति है किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने सीता की ऋणी हूं मैं राजेश नहीं रावण की मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने श्री सीता जी ने रावण के वैभव पर ठोकर लगा दी तृण धरी ओट कहत वैभ तृण तेरा वैभव मेरे लिए तृणवत तुच्छ है